मातु पिता भगे निप्रिय भाये प्रिय परिवारु सुहृद समुदाय सासु ससुर गुरु सजन सहाय सुत सुन्दर सुशील सुखदाय यह लगिनाथ निहयरुणात पियबिनुहि ताते तनु धनु पति पूर सब शोक समाजु माता पिता बहन भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है भोग रोग सम भूषण भारो जम जातना सरिस संसारु प्राणनाथ तुम बिनु जग माहे मोकहु सुखद कछु नारी दिय बिनु देह नदी बिनु बारी बि तैनाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख साथ सा शरद विमल विधु बदनु निहारे भोग रोग के समान है गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है हे प्राणनाथ आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे खग मृग परिजन नगर बन बल कल बिमल दुको नाथ साथ सुर सदन सम सुख मूल हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे वन ही नगर और वृक्षों के छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल बनेंगी बन देवी बन देव उदारा करिह सासु ससुर समसारा कुशके सलय सा थरि सुहे प्रभुसङ्गराय फल मूलफल अमीयहारो अवध सोध सत सरिस पहारू छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की रही हऊ मुदित दिवस जिमिको की उदार हृदय की वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे और कुशा और पत्नों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है बन नाथ कहे बहुते रे भय विषाद परी ताप घने रे प्रभु वियोग लव देश समान सब मिल हो ही न कृपा निधान अस जिय जानी सुजान सिरो बड़ी ले संग मोही छाड़ी जनी विनती बहुत करम क्या स्वामी करुणामय उर अंतर जामी हे नाथ आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए यहाँ न छोड़िए हे स्वामी मैं अधिक क्या विनती करूँ आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं राखिया अवध जो अवध लगी रहतन जानिय प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील सनेह निधान हे दीन बंधु हे सुंदर हे सुख देने वाले हे शील और प्रेम के भंडार यदि अवधि चौदह वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे